अरे अरे विक्रांत ने तुरंत ही बोलना शुरू किया तारिक तुमको इतना गुस्सा क्यों आता है मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि उस वक्त शेख मोहम्मद के करीबियों के मन में क्या चल रहा था लेकिन मैं एक जासूस होने के नाते सिर्फ फैक्ट पर यकीन करता हूँ सभी लोग अब ध्यान से विक्रांत की तरफ देखने लगे और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगे सभी को विक्रांत की बातें काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी देखो गुरु को खजाना नहीं मिला क्योंकि ये लोग शेख मोहम्मद के दिए हुए क्लू को नहीं ढूंढ पाए विक्रांत ने गुरुजी की तरफ देखते हुए कहा देखो शेख मोहम्मद ने पत्थर पर खजाने का कोई नक्शा नहीं बनाया था ये बात शायद तुम्हें भी पता होगी और ना विश्वास हो तो यहाँ हमारे साथ पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट्स भी हैं उनसे पूछ लो हाँ हाँ ठीक है आगे बताओ फिर तारिक ने कहा वो विक्रांत की बातों में बहुत इंटरेस्ट लेते हुए सुन रहा था तो शेख मोहम्मद ने पत्थर पर कुल खजाने तक पहुंचने के लिए कुल छह क्लू दिए थे पहला तो यही था पहाड़ी कोना फिर पत्थर ढाल फिर बरगद का पेड़ चंद्र गड्ढा और फिर था झरने का पत्थर ये सिर्फ पांच ही क्लू हैं जिसे एक्सपर्ट्स लोग समझ पाए हैं अभी भी एक क्लू के बारे में किसी को पता नहीं है अब ये गुरुजी और उसकी गैंग इसलिए खजाने तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि इन लोगों को बरगद के पेड़ का पता नहीं लग पाया है विक्रांत ने गुरु की तरफ एक नजर डालते हुए कहा इसका मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ बचे हुए क्लू के आसपास ही इसे खोजने की कोशिश कर रहे थे सही कह रहा हूं ना मैं लेकिन ये चंद्र गड्ढा है कहा सैकड़ों सालों बाद भी क्या ये सही सलामत है मुझे तो यही डर है कि कहीं ये गड्ढा अब तक खत्म ना हो गया हो इतना कहकर विक्रांत कुछ पल के लिए शांत हो गया और सभी की तरफ नजर डालकर देखने लग गया अब तक सभी विक्रांत की तरफ ही देखने लग गए थे सभी को विक्रांत की बातों पर पूरा यकीन था और सब उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे लेकिन विक्रांत ने इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट डालते हुए सभी को हैरत में डाल दिया इन सबके बीच में सबसे बड़ा इशू जो है उसे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा अगर खजाने को ढूंढना है तो हमें ये पता लगाना होगा कि बरगद के पेड़ और चंद्र गड्ढे के बीच में कौन सा क्लू छूट रहा है तुम तारिक ने विक्रांत को घूरते हुए कहा तुम साफ साफ बताओ जो भी कहना है जल्दी देखो विक्रांत ने कहा शेख मोहम्मद ने सभी क्लू को घटते क्रम में अरेंज किया था पहाड़ी कोना से लेकर लास्ट वाले क्लू तक ऐसे में अगर हम खजाने तक पहुंचने के सभी क्लू को देखें तो हम झरने के पत्थर वाले क्लू तक पहुंच जाएं तो समझो हमारा मिशन पूरा हो गया लेकिन ये इतना आसान थोड़ी ना है शेख मोहम्मद कोई बेवकूफ थोड़ी ना था जो इतने बड़े खजाने को और गोल्डन पिलर को आसानी से किसी के हाथ लगने देगा अगर चंद्र गड्ढा और झरने के पत्थर को ढूंढना इतना आसान होता तो फिर अब तक खजाना मिल गया होता विक्रांत ने कहा बरगद के पेड़ से लेकर चंद्र गड्ढे तक पहुंचने के बीच में छूट क्या रहा है क्या सभी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा देखो विक्रांत ने फिर आगे समझाते हुए कहा मैं तुम लोगों को सच्चाई बताऊंगा बरगद के पेड़ और चंद्र गड्ढे के बीच में कौन सा क्लू छूट रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता है इससे पहले सबका पारा चढ़ता विक्रांत ने कहानी में एक और ट्विस्ट डाल दिया लेकिन लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये क्लू जरूर गुफा से जुड़ा हुआ है गुफा से तारिक ने कहा हालांकि अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि विक्रांत उसे बातों में बहलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी वो विक्रांत की बातों को टाल नहीं सका हाँ गुफा विक्रांत ने जवाब दिया देखो इसे ये एक पहेली ही है अगर चंद्र गड्ढा बरगद के पेड़ के ठीक बाद में है तो फिर बीच में किसी और क्लू के होने का कोई चांस ही नहीं है लेकिन अब वहां बीच में अगर कोई क्लू मिस हो रहा है तो आपके हिसाब से वहां क्या होना चाहिए सोचो सोचो विक्रांत की बात सुनकर यहाँ हर कोई हैरत में पड़ा हुआ था थोड़ी देर तक सोचने के बाद इन लोगों को समझ में आया कि आखिर विक्रांत कहना क्या चाहता है जाहिर है कि अगर बरगद के पेड़ और चंद्र गड्ढे के बीच में कोई क्लू मिस हो रहा है तो उसके लिए सबसे सटीक जवाब गुफा ही है इसके अलावा तो कोई कोई भी चीज वहां फिट नहीं हो रही है वाओ विक्रांत का आइडिया सुनकर ना सिर्फ तारिक ने बल्कि उसके आदमियों ने भी विक्रांत को एक अलग ही नजर से देखना शुरू कर दिया यहाँ तक कि गुरुजी यानी कि गणेश महात्रे भी विक्रांत के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 20 आदमी के पास खजाने से जुड़ी इतनी जानकारी कैसे आई लेकिन तारिक ने कुछ सोचते हुए कहा ठीक है मान लिया कि ये क्लू गुफा ही है लेकिन पहाड़ी कोना के आसपास तो कई सारी गुफा मौजूद है लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि खजाना उसी गुफा में है जहां से वो पुरानी लाश मिली थी वेल well, विक्रांत ने तेजी से दिमाग चलाते हुए उसके लिए भी जवाब सोचना शुरू कर दिया ओल्ड एक्सपर्ट्स को गाय का वो चमड़ा गुफा के भीतर जिस लाश के हाथ में मिला था वो गुफा के भीतर काफी ऊंचाई पर मौजूद था और इसी वजह से लाश को जंगली जानवर नहीं ले जा पाए थे तो सभी विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी खुद से चढ़कर उतनी ऊंचाई पर जाकर मर गया था जंगली जानवरों से बचने के लिए ओह जब विक्रांत ने सवाल किया तो तारिक के दिमाग में एक और ख्याल आया ओह तारिक ने संदेह भरे लफ्जों में पूछा तो तुम्हारा मतलब वो खजाना लाश के आसपास में ही कहीं है ए विक्रांत हंस पड़ा अपनी इस हंसी के साथ ही वो अपने इस आइडिया को और पुख्ता करना चाहता था ताकि लोग उसकी बातों पर पूरा यकीन कर लें लेकिन तभी बीच में ही गुरुजी बोल पड़ा क्या बकवास कर रहे हो तुम तुम्हें क्या लगता है मैंने वहाँ ढूंढा नहीं यहाँ जंगल में इतने दिनों से मैं झक मार रहा हूँ मैं बता रहा हूँ वहां कुछ नहीं मिलने वाला कुछ नहीं वहां तेरी तो विक्रांत मनी मन गुरु को गाली देते हुए उसे घूरने लगा जाहिर है गुरु के लिए इस वक्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन विक्रांत ही है क्योंकि तो विक्रांत की ही वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो गया अगर विक्रांत ना रहा होता तो शायद अब तक वो मालामाल हो चुका होता इसलिए अभी वो विक्रांत को गलत साबित करके उसे तारिक के हाथों मरवाना चाहता था हम्म गणेश ठीक कह रहा है तारिक ने विक्रांत को घूरते हुए कहा वो पिछले कई दिनों से यहाँ खोजबीन कर रहा है अगर वहाँ गुफा के भीतर खजाना होता तो उसे अब तक मिल गया होता वो इतने आदमियों के साथ मिलकर खोज रहा है इतना कहते हुए तारिक फिर से गुस्से से लाल आंखों से विक्रांत को घूरने लगा